بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है कसम है उन हवाओं की जो गर्द उड़ाने वाली हैं फिर पानी से लदे हुए बादल उठाने वाली हैं फिर नर्म चाल के साथ चलने वाली हैं फिर एक बड़े कार्य यानी वर्षा का वितरण करने वाली हैं तथ्य ये है कि जिस चीज से तुम्हें डराया जा रहा है वो सत्य है और कर्मों का फल जरूर सामने आने वाला है कसम है विभिन्न रूपों वाले आसमान की परलोक के विषय में तुम्हारी बात एक दूसरे से भिन्न है उससे वही विमुख होता है जो सत्य से फिरा हुआ है मारे गए अटकल और गुमान से हुक्म लगाने वाले जो अज्ञान में डूबे हुए और गफलत में मदहोश हैं पूछते हैं आखिर वो बदला दिए जाने का दिन कब आएगा इन्नल्मुत्तकीन फी जन्नातिन वउयून आखिरीन मा आताहुम रब्बुहुम इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिक मुहसिनीन كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون वो उस दिन आएगा जब ये लोग आग पर तपाए जाएंगे इनसे कहा जाएगा अब चखो मजा अपने फितने का ये वही चीज है जिसके लिए तुम जल्दी मचा रहे थे अलबत्ता परहेजगार लोग उस दिन बागों और स्रोतों में होंगे जो कुछ उनका रब उन्हें देगा उसे खुशी खुशी ले रहे होंगे वे उस दिन के आने से पहले सुकर्मी थे रातों को कम ही सोते थे फिर वही रात के पिछले पहरों में माफी मांगा करते थे وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون और उनके मालों में हक था मांगने वाले और उनके लिए जो पाने से रह गए हों जमीन में बहुत सी निशानियां हैं विश्वास करने वालों के लिए और खुद तुम्हारे अपने अस्तित्व में है क्या तुमको सूझता नहीं आसमान ही में है तुम्हारी रोजी भी और वो चीज भी जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है अतः कसम है आसमान और जमीन के मालिक की ये बात सत्य है ऐसी ही विश्वसनीय जैसे तुम बोल रहे हो هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم ए नबी इब्राहिम के आदरणीय मेहमानों का किस्सा भी तुम्हें पहुंचा है जब वे उसके यहाँ आए तो कहा आपको सलाम है उसने कहा आप लोगों को भी सलाम है कुछ अपरिचित से लोग हैं फिर वो चुपके से अपने घर वालों के पास गया और एक भुना हुआ मोटा ताजा बछड़ा लाकर मेहमानों के सामने पेश किया उसने कहा आप लोग खाते नहीं फिर वो अपने दिल में उनसे डरा उन्होंने कहा डरिए नहीं और उसे एक ज्ञानवान लड़के के पैदा होने की खुशखबरी दी ये सुनकर उसकी बीवी चिल्लाती हुई आगे बढ़ी और उसने अपना मुंह पीट लिया और कहने लगी बूढ़ी बांझ उन्होंने कहा यही कुछ कहा है तेरे रब ने वो तत्वदर्शी है और सब कुछ जानता है